आकाश और महत्व अहम तत्व महत्व में लीन करके परमात्मा में मिला दो इस सृष्टि को ज्ञान स्वरूप परमात्मा से अलग नहीं है ये हुआ क्रम क्रम से लय प्रक्रिया हुई और एक है बास प्रक्रिया क्या पहले अपने को देह से अलग एक महात्मा बताते थे आप लोगों को अब बात तो साधुओं की उठपटान तो लगेगी बोले कि देखो तख्ते पर तो बैठा है शरीर और तुम देखो कि हम छत पर बैठे रहने दो सारे शरीर को बैठने दो हाँ, तख्ते पर और तुम सोचो कि इस ये शरीर न मैं हूं न मेरा है ये मिट्टी का शरीर मिट्टी पर बैठा है और मैं इससे बिल्कुल अलग चिदाकाश में बैठा हूं अपने को इस देह में से निकालो यही नरक है यही दुख है यही अज्ञान है यही असत्य है आत्म वस्तु का देहाभिमानी होकर देह में बैठ जाना अपने को इस नरक में से हड्डी मांस चाम निष्ठा मूत्र के नरक में से निकालो तुम इसके साक्षी हो दृष्टा हो चेतन हो और फिर चेतन होके देखो जड़ के अत्यंत अभाव का अधिकरण है चेतन माने चेतन में जड़ दिखता भी है नहीं भी दिखता है है भी नहीं भी है प्रिय भी है अप्रिय भी है ये सब दुविधा क्या है बोले अपने अभाव के अधिकरण में जहाँ घड़ा नहीं है वहीं घड़ा दिख रहा है जहाँ नीलिमा नहीं है वहीं नीलिमा दिख रही है नारायण जहाँ हीरा नहीं है वहाँ हीरा मालूम पड़ रहा है आपने सुना होगा किसी का हीरे का हार चिड़िया उठा के ले गया उसने तो रख दिया अपने घोंसले में जब वो खोजने लगा महाराज ढूंढने लगा तो गौर से देखने पर मालूम पड़ा कि पानी में हीरे चमक रहे हैं अब वो बार बार डुबकी लगावे तो क्या पानी में हीरे मिलेंगे हैं? वो तो महाराज किसी जानकार ने बताया कि वो देखो घोसले में तुम्हारे हीरे हैं पानी में नहीं तो ये जो हम लोगों को भ्रम हो रहा है ये आत्मा और परमात्मा ये वैष्णव लोग भी आत्मा परमात्मा का अभेद ही मानते हैं हो हम तो बड़े प्रामाणिक रूप से बात कर रहे हैं श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा अहमेव इदम सर्वम मैं ही ये सब भगवान ही भगवान एव इदम सर्वम भगवान ही सब ये सब उन्हीं में से निकला है उन्हीं में रह रहा है और उन्हीं में समा जाएगा सर्वं विदम ब्रह्म तला निधि शांत उपासित ये जीव जगत सब परमात्मा में से निकला है परमात्मा ही है तो जगत की ओर से परमेश्वर की ओर चलो तो एक एक कदम लय करते हुए चलो और अपने आत्मा को परमात्मा से एक कर दो जान लो तो देखोगे कि तुम्हारे अंदर ये कुछ है ही नहीं इसको बाद प्रक्रिया बोलते पहले आत्मा का दृश्य सृष्टि से अलग होना और परमात्मा का दृश्य सृष्टि से अलग होना दोनों का एक होना और फिर दोनों से भिन्न सृष्टि का न होना क्या ध्यान करता था अच्छा मैं इस सृष्टि का दृष्टा हूं यदि यही रह जाओगे तो भेद ही बना रहेगा एक दिखने वाली सृष्टि दृश्य है और एक देखने वाले दृष्टा तुम हो दृश्य अनित्य है दृश्य जड़ है दृश्य दुख है और तुम नित्य हो चेतन हो आनंद स्वरूप हो लेकिन रहे दोनों अलग अलग अब जब तुम्हारी आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में अनुपने को अनुभव करेगी तो ये थोड़ी थोड़ी देर देखने वाला और मिटने दिखने वाला और मिटने वाला दृश्य बिल्कुल मिट जाएगा तो अपने को परमात्मा से एक करके सृष्टि की ओर देखोगे तो ये कुछ नहीं मिलेगी सर्गाद वनोत्पन्नम सृष्टि प्रारंभ में ही नहीं हुई दृश्यम नास्ते व सर्वथा सर्वतः सर्वथा ये दृश्य बिल्कुल है ही नहीं इदं जगद हन चेती ये जो आकाश दिखाई पड़ रहा है ये मैं ही अरे तो मेरे मन कल्पित आकाश का दर्शन हो रहा है क्योंकि आकाश का और छोर जब नहीं मिला अज्ञान हुआ आकाश के और छोर का तब वो अज्ञात आकाश मन कल्पित हो गया मेरे मन में ये आकाश कल्पित है आकाश में वायु अग्नि जल पृथ्वी कल्पित है आकाश कोश तनवो तनवो मांत आकाश हमारा शरीर है जिसमें न पूरब है न पश्चिम है न उत्तर है न दक्षिण है जिसमें न उत्पत्ति है न प्रलय है ऐसा अनंत आकाश अपने आत्मा का स्वरूप है इदं जगद चेती जो ये दिखाई पड़ता है ये अपने ही स्वरूप है इस तरह से महाराज चित्त का लय किया जाता है ऐसे लय किया जाता है जड़ का निषेध कर दो जगताम वर्जय त्वताम श्री उड़िया बाबा जी महाराज को तो बड़ी वेदना हुई हमको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है तो उन्हें कैसे साक्षात्कार है जगताम मर्जयिता शंकर जी ने बताया शिलाया हृदय जत अमनस्कम महाबाहो तदस्मीति सुखी भव अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्पदा जड़ताम वर्जयित्वैताम जड़ता का निषेध कर दो न शरीर में जड़ता है न बाहर जड़ता है हाँ शरीर जड़ मेरा नहीं है जड़ मैं नहीं हूं और जड़ नाम की वस्तु नहीं है इसका वर्जन कर दो और मन को कर दो निसंकल्प कोई न संकल्प और न विकल्प संकल्प छोड़ दो तो ऐसे बैठो कि देह का देह के संबंधी का प्रपंच का कोई संकल्प अपने चित्त में न हो जैसे चेतन क्या है निसंकल्प स्वप्रकाश सर्वाधिष्ठान एक चट्टान है न जागृत है न सुषुप्ति है आप अपने स्वरूप में बैठे हो सबका लय सबका लय हो गए नेति नेति वाक्य नो शेषितम परम पदम निराकर्तुमशक्यवाद तदस्मीति सुखी भव नेति नेति जगत नहीं परोक्ष ईश्वर नहीं प्रत्यक्ष सृष्टि नहीं अज्ञात आत्मा नहीं नेति नेति न परोक्ष ईश्वर है न प्रत्यक्ष सृष्टि है न अज्ञात आत्मा है नेति नेति ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं अब रह कौन गया का आत्मा मैं परम पद निराकर तुम अशक्यवाद इसको कोई हटा नहीं सकता कोई दूर नहीं कर सकता यही अपना स्वरूप है तदस्मिति सुखी भव सुखी हो जाए भाई ये प्रेम कुटी वही है जहाँ श्री प्रेमपुरी जी महाराज दाहिने बैठते थे जहाँ मांडूक के प्रवचन की कथा हुई थी मांडूक के प्रवचन यहीं से निकला यहाँ तो वेदांत का बाजार गर्म रहता था बल्कि एक आध बार की तो हमको याद है पहले पहल शुरू शुरू एक सज्जन ने यहाँ कर्मजोग पर व्याख्यान दिया प्रेमपुरी जी महाराज ने तत्काल काट दिया नाम हम नहीं लेते हैं जान के है ना कह दिया नहीं यहाँ कर्म और की बात नहीं एक बार मैंने भक्ति की बात यहाँ कही तो बच्चू भाई ने कह दिया महाराज हमारी निष्ठा डावाडोल हो जाती है है ना हाँ हमारा मन हिल जाता है आप यहाँ तो वेदांत की बात करो फिर महाराज प्रेमपुरी जी ने जो भक्ति की बात सुनी गोपी गीत की कथा ऊपर वाले हाल में हुई है ऊपर फिर तो उनकी आंख से आंसू गिरते थे बड़े प्रेम से बड़ी व्याकुलता से आ, सुनते तो नारायण थोड़ी देर के लिए अपने मन को धर्म के सहारे योगाभ्यास के सहारे वैराग्य के सहारे भगवत भक्ति के सहारे हैं चिंतन मनन के सहारे कैसे भी इस दृश्य जगत से अपने मन को हटाकर समाधि में डालो लय हो जाएगा भगवान में डालो लय हो जाएगा अपने में डालो लय हो जाएगा और मन के अभाव का बोध हो एक और दूसरा होता है न बाजे ना हृदय सदरूपम विद्यते मनहा मन न कहीं बाहर है न भीतर है मन ही नहीं है मूल ही काट दो मन नाम की चीज है ही नहीं ये तो जो दुनिया मालूम पड़ती है इसका नाम है मन जब दुनिया ही नहीं मालूम पड़ती तो मन काहे का जब दुनिया मालूम पड़ती है तब आत्मा का नाम मन है और जब दुनिया नहीं मालूम पड़ती है तो मन का नाम आत्मा है एक ही वस्तु पर यदि मन आपका टिकता नहीं है तो निश्चय आप भगवान के नाम का सहारा मंत्र का जप कीजिए रूप का ध्यान कीजिए सत्संग कीजिए मनन कीजिए निधिध्यासन कीजिए लेकिन वो मनन निधिध्यासन के रास्ते न हो श्रवण के अनुसार चले श्रुति शास्त्र के विरुद्ध जो मनन होता है वो कुपथ में ले जाता है जब कोई कह दे कि जो तुम्हारी मर्जी जो हो खाओ चाहे जो खाओ जो पियो तो नारायण आप डर जाना हो ये हमको कुमार्ग में ले जाएगा साधन का नाम ले है ना जो के जो मौज सो भोगो आओ हम ध्यान तीन मिनट में ध्यान कराते हैं हाँ। जो मौज सो खाओ जो मौज सो पियो है ना जो मौज सो करो जो मौज सो भोगो ये आपको जो उच्छृंखल बनाता है आपके जीवन में जो नियंत्रण है मर्यादा है उसको तोड़ने को कहता है वो आपका हितैषी नहीं है आपको भ्रष्ट करने वाला है आपको नरक में ले जाने वाला है खाने में संयम चाहिए काम करने में संयम चाहिए भोग में संयम चाहिए संग्रह में संयम चाहिए और फिर आप शांति से बैठ करके विचार करोगे तो देखोगे परमात्मा आपसे दूर नहीं है बिल्कुल आपके भीतर आपके हृदय में ही है जब आप रोते हैं तब भी है जब हंसते हैं तब भी है जब आप बुरा काम करते हैं तब भी है जब भला काम करते हैं तब भी है लेकिन आप बुरा काम करके बुरा भोग करके बुरी वासना रख के और चाहे कि हम परमात्मा को देख लें तो कभी नहीं देख सकते इसके लिए अपने जीवन को शुद्ध करना आवश्यक होता है ओम नमो नारायण विश्व विश्वं दर्पणदृश्यमानगर्वीन्द्रियं

श्रद्धान्नानुबन्धम् श्रुतिशिखरविरामाग्रहम् नानु अम्भः संहरदखिलम् सकृदुदयादेव परं विवतिनिरदाशिं जयति जगन्मङ्गलं हरे संहरदखिलं सकृदुदयादेव दीवलोक परनिवतिनिरदाशिं जयति जगन्मङ्गलं हरे ओ उपनिषद का कहना न आत्मिदम सर्वम मौत ने सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है अमृतस्य पे एक परमात्मा ही अमर है अमृत परमात्मा के सिवाय और दूसरा कोई अमृत नहीं अतएव पूरी नाम मनाम है अतएव हम आपके नाम नाम नाम नाम का भजन करते हैं पारणाचार्य ने मनामहे का अर्थ किया है भजामहे हम आपके नाम का भजन करते हैं आपके नाम का मनन करते हैं नाम जपू नाम रटू नाम रमू हे जीव गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हे जीव तुम नाम का जप करो तुम नाम को रटो तुम नाम में रंग जाओ भी प्रतिनिधि प्रिय हैं आपके आस पास पड़ोस में जो लोग घेरे रहते हैं आपको वो कोई विश्वास करने योग्य नहीं आप काम चलाने के लिए विश्वास कीजिए बिना विश्वास के काम तो चल ही नहीं सकता नौकर के हाथ का पानी पीना पड़ेगा रसोई के हाथ का खाना पड़ेगा और डॉक्टर से दवा लेनी पड़ेगी बिना विश्वास के तो काम चलेगा नहीं तो एक मजबूरी है कि हम संसार में विश्वास करके अपना जीवन चलाते हैं नहीं तो अपने हाथ पांव भी विश्वास करने लायक नहीं है ये कब तक रहेंगे कब तक काम देंगे मिनटों में हो मिनटों में हमारे एक मित्र थे वृंदावन में ही रहते थे उन्होंने एक आश्रम बनाया हमारे पास में ही बड़ा बढ़िया व्याख्यान देते थे भागवत का और दिन में व्याख्यान दिया रात को लकवा लग गया पक्षाघात हो अब दवा करने के लिए जब रुपए की आवश्यकता हुई तो वो आश्रम उन्होंने प्रयाग मुनि के हाथों फेंक दिया वही प्रयाग मुनि ने वही दिया फिर दवा दारू करते हुए कुछ बरस रहे हमको मिलते भी थे उनके मन में बहुत गिलानी थी कि अब मैं बोल नहीं सकता बड़ी गिलानी तो अपनी जीव का ही विश्वास नहीं है अपने हाथ का ही विश्वास नहीं है अपने पाँव का विश्वास नहीं है ये दिल महाराज कब कहां बह जाए कुछ पता नहीं दिमाग कब कैसे उलट जाए हमने बड़े बड़े बुद्धिमानों को पागल होते देखा जिस विश्व में हम रह रहे हैं जिससे चारों ओर घिरे हैं पास पड़ोस की बात हम नहीं करते हैं हमारे तो सबसे पड़ोस में हमारा शरीर ही है हमारी आंख है नाक है कान है जीव है दांत है मन है ये भी मृत्यु से ग्रस्त है न हमारे हाथ में है न ये स्वयं निज के हाथ में है ऐसी विवशता सृष्टि में चलती है तो पास पड़ोस की तो ये दशा है कि हम जिनका विश्वास नहीं करना चाहिए उनसे घिरे हुए मौत सबके सिर पर छाई हुई है छींच रही है ये सारी सृष्टि क्षण क्षण बदलती जा रही है बदलती जा रही है जहां देखो अज्ञान का ही बोलबाला है हम बच्चे से भी बात करते हैं और वो कुछ कहता है तो कहता है कि पिताजी आप नहीं समझे ये बात मम्मी को डैडी को मालूम नहीं अरे तुमको कहाँ से मिली बोले स्कूल से मिली देखो वहां से स्कूल और हम सोचते हैं कि बच्चा छोटा है ये नहीं समझता है वो समझता है कि मम्मी डैडी पुराने हैं ये नहीं समझता देखो हमारे लिए तुम तुम्हारे लिए मैं दोनों नासमझ हो गए दोनों ही नासमझ हो गए हो उसमें अपना अभिमान जो है वो बिल्कुल बेकार है दुख की ओर देखो तो सृष्टि की ये स्थिति है इस सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी पैदा ही नहीं होता जिसके जीवन में दुख न हो जब मन लेके पैदा हुए वासना लेके पैदा हुए रिश्ते नाते लेकर पैदा हुए मैं मेरा लेकर पैदा हुए तो कभी न कभी अपने विरुद्ध कुछ न कुछ हो ही जाता है दिन भर में दस बार दुख आता है दस बार सुख आता है तो ये दुनिया मौत से घिरी है अज्ञान से घिरी है दुख से घिरी है भय है शोक है मोह है जो पीछे छूट गया अच्छा छूट गया तब भी उसके लिए पछताते हैं बुरा छूट गया तो भी उसके लिए पछताते हैं कि हाय हमने बुरा क्यों किया अच्छा किया किया तो उसके लिए भी कहते हैं आज क्यों नहीं होता पहले तो मैं बहुत अच्छा करता हाँ। आगे ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए भय होता है वर्तमान में ऐसा मोह है कि हम ले चलना चाहते हैं अपना राज्य अपने साथ अपनी धरती अपने साथ लेकिन ये पट्टे दांत भी हमारे साथ नहीं चलते हैं हो तो ये काले बाल भी हमारे साथ नहीं चलते हैं झूठ मूठ का मोह संसार में व्याप्त हो रहा है तो भविष्य का भय है भूत का शोक है वर्तमान का मोह है इस तरह का ये जीवन चल रहा है भागवत में इस जीवन का वर्णन है सर्वतो मृत्यु ग्यारहवें स्कंद में ये शब्द है वो ये मनुष्य कहाँ है बोले सर्वतो मृत्यु इसके ऊपर नीचे दाहिने बाएं सामने पीछे बाहर भीतर मृत्यु मृत्यु भरी हुई है कभी गौर से देखें आप तो पड़ोसी को देखने में इतने संलग्न हो गए हैं कि अपना चेहरा ही नहीं दिखता है जैसे अपने को हम्म। देखने वाला शीशा ही फूट गया हो थोड़ा सा समय अपने जीवन में ऐसा रखिए जिसमें अपने को बेनकाब करके देखा जा सके दूसरे को गाली देना बहुत सुगम है पर अपने साथ जो गाली लगी है दुनिया भर की गाली हो अगर हमारे साथ गाली न लगी होती तो उसकी एक पहचान होती तो हम दूसरे को गाली नहीं देते जैसे जिसके पास रुपया होता है वो दूसरे को रुपया देता है तो जिसके पास गाली की पूंजी रखी हुई है वही तो दूसरे को गाली का प्रदान करेगा है? सो महाराज कई निंदा करने वाले गाली देने वाले तो ऐसा भी समझते हैं कि जैसे पुण्य तीर्थ में है, और पुण्य काल में और श्रेष्ठ पुरुष को देशे काले च पात्रे च हाँ, दान करने से बहुत पुण्य होता है वैसे अपने से श्रेष्ठ पुरुष की यदि निंदा की जाए तो उससे हमको बहुत कुछ पुण्य होगा माने अपने से बड़ों की निंदा करते हैं तो बड़ों को दान देने से पुण्य होता है तो शायद सोचते होंगे कि बड़ों की निंदा करने से गाली देने से भी ज्यादा पुण्य होता तो बाबा ये तो है अपने जीवन की परि, परिवार परि माने चारों ओर वार माने जो घेर के रहे हो परिवार माने चारों ओर का घेरा परिक्रमा ने भी यही होता है जैसे दो हाथ शरीर में रहते हैं वैसे पास जो अपना हाथ बन के रहते हैं काम करने वाले उनको परिकर बोलते हैं परिकर है परिवार है अब यदि अपने शरीर की ओर देखें तो हम दूसरे को धक्का देते हुए चलते हैं दूसरे को गिराते हुए चलते हैं ऐसा हमारा काम है ऐसा हमारा चलना हम देखो चाहते हैं कि हमारी बहू बेटी की ओर कोई बुरी नजर से न देखे परंतु हम दूसरों की बहू बेटी की ओर बुरी नजर से देखें ये स्थिति है हमारा धन कोई ना ले हम दूसरे का धन लेना चाहते हैं तो हमारी ओर कोई टेढ़ी आंख से न देखे पर हम दूसरों को टेढ़ी आंख से देखें हम व्यवहार की जो संहिता बनाते हैं कानून की जो पुस्तक है हमारा जो ताजीरात हिंद है ऐसे ही कुछ नाम था ताजीरात हिंद है वो दूसरों के लिए है हमारे लिए नहीं है ये मन की जो वासनाएं हैं उनकी ओर देखो ऐसा महाराज एक खींचता है इसमें विक्षेप शक्ति ज्यादा है अपने को बाहर फेंकता है तो किसी से कहो भाई तुम उनकी ओर देखते हो मैं पे हो तो कहेगा देखते ही तो हैं पाप थोड़ी करते हैं देखना कोई पाप है अरे भगवान ने हमको आंख दी है उसको सुंदरता दी है हम देखते हैं देखना कोई पाप थोड़ी है ईमानदारी की बात आपको सुनाते हैं तो पहले आंख जाती है देखने फिर जीभ जाती है बात करने अरे दो दो बात कर लेते हैं तो इसमें क्या बात फिर हाथ जाता है छूने अरे बाबा छूने में क्या पाप है तो पहले आया देखना चक्षुराग प्रथम मुंह से राग प्रारंभ होता है ये लगा लगी लोयन करें नाहक मन बध जाए आंखें लगा लगी करते हैं और मन बन जाता है आंख से देखा जीव से बात की मन को अच्छा लगा हाथ से छू लिया और छूने के बाद ये तो महाराज एक बार मन जहाँ तिकोनी में गया और गोंद लगा फिर तो चिड़िया बन गया ये धीरे धीरे हो जो शुरू से ही सावधानी नहीं रखेगा वो गलत रास्ते पर जाता है अधोधो गांगेयम पदमुपगतम स्तोक मधुना विवेक भ्रष्टानाम भवती विनिपात स्वतमुखा जब कोई चीज नीचे गिरने लगती है तो नीचे गिरती जाती है गिरती जाती है गिरती जाती है औरों का तो कहना क्या गंगा जल भी गंगा जल भी भगवान के चरणों से गिरा ब्रह्मा के और कमंडलू में आया वहां से गिरा तो शिव जी के सिर पे आया वहां से गिरा तो हिमालय पर आया वहां से गिरा धरती पर आया और वहां से गिरा तो खारे समुद्र में जाके मिल गया जब मनुष्य की गति नीचे की ओर होने लगती है तो उसको कोई संभाल नहीं सकता है अधो धो गांगेयम पदम उपगतम स्तोक मधुना विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपात शतमुखा जब आदमी विवेक का रास्ता छोड़ करके गिरने लगता है अरे बाबा पहले दिन आंख को रोको जीव को रोको हाथ को रोको मन को रोको कहा जा रहा है तुमको छोड़ करके वो कहा जा रहा है ये हमारे मन की स्थिति है आत्मविश्लेषण आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक यथा ही मलिनईर वस्त्र यत्र तत्रोपविश्यते एवं चलित वृत्तस्तु वृत्तशेषम न रक्षसे जब आदमी गंदा कपड़ा पहनने लगता है तो चाहे चाहे जहां बैठ जाता है इसी प्रकार जब मनुष्य का चरित्र एक बार गिरने लगता है तो वो कितना गिरेगा इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता बंधन नहीं रहता तो हम लोग जानते हैं सब सोचते हैं कि जाओ भाई पंचभूतों की प्रक्रिया यही प्रकृति विकार की हो रही चलती है जानते हैं ये सब माया का खेल ऐसा ही होता है ईश्वर की लीला में यही सब कुछ तो हो नहीं तो लीला कहाँ का विरोध नहीं करते किसी को टोकते भी नहीं वो जानते हैं कि यदि हम टोक दें हाँ, समझाने लगे तो ये हमारे पास आना छोड़ है कम से कम आता तो रहेगा रहेगा तो सही है समय पर जैसा भगवान करे हाँ, हाँ, पर यदि हम इसके चरित्र में कोई दोष निकालें नुकता चीनी करें हैं तो कहेगा अरे ये तो खुचर निकालते रहते हैं ये महात्मा नहीं है इनको तो दोष दिखता है वो ऐसे कहेंगे वो कि ये महात्मा होते तो इनको दोष काहे को दिखता है तो अपनी खोज सुनने को कोई तैयार नहीं किसी का मन उनको महाराज दोष बताओ ऐसी चार सफाई देते हैं हाँ। पहले तो मैंने ऐसा किया ही नहीं किया तो इस वजह से किया करके बोले हमने पोथी में देखा रिश्ते ने भी ऐसा किया अच्छा ठीक है हमारे तो हमारे गुरुजी ने भी ऐसा किया तो हमको बड़े आदमी ने बताया था बड़ों का बुजुर्गों का नाम लेके हमारे भाव को दबाएंगे ये सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है हम जैसे पागल को पागल नहीं कहते वैसे वासनावान को वासनावान भी नहीं बोलते भरी सभा में बैठे बीच में बैठे एक आदमी के लिए नहीं सार्वजनिक रूप से ये बात कह रहे हैं कोई एक आदमी ये न लगावे कि हमारे ऊपर लगा गए हम भोग भुक्त भोगी हैं भोग हमने जब किसी को बताया कि तुमने ऐसा एकांत में तुमने ऐसा किया तो उसके मन में आया अच्छा ये जान गए बस बस फिर आना जाना बंद अरे बाबा दुनिया से कैसे रहना बोले छत्तीस होके रहना उसका मुंह दूसरी तरफ अपना मुंह दूसरी छत्तीस जाके छत्तीस के साथ तीन का मुंह दूसरी ओर छह का मुंह दूसरी ओर जगते रहो छत्तीस हुए राम चरण छह तीन भगवान के चरणों में कैसे रहना तिरसठ की तरह तिरसठ में छह और तीन दोनों का मुंह एक मिला हुआ और 36 में दोनों का मुंह दूसरी तरफ है अच्छा बुद्धि जो है उसको संसारी लोगों ने ठग इंद्रियाणाम चरता जन्मनोनुविधीयत तदस्य हरते प्रज्ञा ये प्रज्ञा माने बुद्धि हो आगे आगे चली इंद्रिया है जिनका महाराज उसी से प्रेम नहीं है ये इंद्रियां जो है ये ही हैं जीव कभी बताती है कि नमक प्यारा है तो कभी बताती है कि मिठाई प्यारी है तो कभी बोलता है खटाई प्यारी है ये क्या ये कोई बात हुई हाँ। आप बताती है कभी ये सुंदर है कभी ये सुंदर है कभी ये सुंदर है तो आगे आगे चली मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक तो हो गई ये पुलताए और ये मन सारा नपुंसक साला ही है वो Yeah. तो ये गाली है वैसे तो निरुक्त में श्याल शब्द है श्याल श्याला नहीं है श्याल श्याला संबंध न गीता तो, तो सियात लाजान आबसंती इति श्याला विवाह के समय जो सूप में लेके लावा गिराते हैं ना उसमें आग में उनको श्याला बोलते हैं श्याल शब्द की विस्पत्ति है स्यात लाजान आवपंथी ये महाराज अपनी बहन को हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज देते हैं इसलिए इसको श्याल कहते हैं अब देखो आपका मन कैसा है ये इंद्रियों को बस में नहीं रख सकता इंद्रियों के बस में हो जाता है ये नपुंसक है इसका जो पुष्प है पौरुष है वो नष्ट हो गया है क्लैव्यम मगम पार्थ नहीं तत्व युग है मन बिल्कुल नपुंसक इंद्रियों के पराधीन हो अब महाराज मणिराम चले तो प्रज्ञा भी बुद्धि भी इंद्रियों के पीछे मन और मन के पीछे बुद्धि चली इसमें ऐसे समझो आंख ने देखा कि ये साड़ी बहुत अच्छी है घर में 500 साड़ी रखी ऐसा नहीं है कि 10-20 साड़ी अपने पहनने के लिए रख के और जो चार पांच सौ घर में इकट्ठी है वो गरीबों को दे दें काम में आ जाए ऐसा नहीं करते हैं भाई बोलते ये साड़ी गरीब पहनेंगे राम राम तो गरीब नहीं पहनेंगे कीड़े खा जाएंगे सड़ जाएंगे रखी रखी सड़ जाएंगे और बोले भाई ये तो ये बहुत बढ़िया चीज है ये अरे गहरे को देने लायक नहीं है तो, तो क्या हुआ कि पांच चार दिन के बाद वो कीड़ों के काम भी हो गए ऐसा होता है तो ये बुद्धि जो है ऐसा विचार देती है ऐसा विचार देती है जो काम के क्रोध के लोभ के समर्थन में होता है देखो ना हम लोगों ने नींद को भी उठा दिया है जब हम दवा खा के बुद्धि को दबाते हैं नहीं तो महाराज कहा वो तो पैसे के पास रहती है दुश्मन के पास रहती है पराये घर में रहती है कुर्सी में रहती है अखबार में रहती है तो बुद्धि तो अपने घर में रहती नहीं है वो तो मन के पीछे पीछे दौड़ती रहती है तो उसको महाराज दवा दे के सुलाना पड़ता है हमको बड़े बड़े लोगों से मालूम पड़ा जो दुनिया में धनी मानी कहे जाते हैं इज्जतदार कि वो जब गोली खाते हैं तब उनको नींद आती ये महाराज पढ़े लिखे लड़के अपनी अकल का संहार करते हैं हमने एक नौजवान के बारे में सुना 25 वर्ष का है अभी वो तो बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा काम करने वाला अब उसको पान खाने का शौक पैदा हुआ है पच्चीस छब्बीस वर्ष की उम्र में तो मालूम हुआ कि बाबा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग तो पान खाना पसंद नहीं करते हैं ये क्यों खाता है तो मालूम हुआ कि वो पान की दुकान पर और कोई गोली मिलती है ऐसी जो पान में डाल के खाता है नशे के लिए हाँ, तो अक्ल का तो संहार हो गया ना वो खुद हाँ, जैसे कोई ऐसी चीज खाए तो उसका शरीर गल गल के गिर जाए ऐसे वो ऐसी चीज खाता है कि उसकी अक्कल गल गल के गिर जाए न धन कमाने लायक रहे बहुत लोगों को हम जानते हैं कि उनकी कमाई छूट गई व्यापार छूट गया उनका घर बिगड़ गया वो तो मस्त रहते हैं महाराज घूमते रहते हैं जैसे बिल्कुल लापरवाह हो गए तो जैसे शरीर को जहर नष्ट करता है वैसे बुद्धि को नशीली चीजें नष्ट करती क्या बोले किसको बोले कबीर जी ने रोया था पहले ही हाँ, के ही के ही समझाओ सब जग अंधा हाँ, ये कबीर साहब का है के ही के ही समझाओ सब जग अंधा <coughs> ये स्थिति है अब इसमें कहो कि नियम से धर्म का पालन करो महाराज बिना नियम लिए धर्म का पालन नहीं पाओ व्रत व्रते न दीक्षा होती जीवन में एक नियम लेना पड़ता है एक व्रत करना पड़ता है व्रत हम ये ये चीज नहीं खाएंगे ये व्रत चाहिए हो फिर किसी दिन भूखे रहना पड़े तो रहो बिना तकलीफ सहे धर्म का पालन नहीं होता हम ये ये काम नहीं करेंगे व्रत लो हम ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे व्रत लो यज्ञ में दीक्षा लेनी पड़ती है अपने मन से ले तो कभी छोड़ सकते इसलिए जैसे पुरोहित के सामने अग्नि प्रज्वलित करके वेद का मंत्र पढ़ के प्या होता है कि हम आजीवन एक साथ रहेंगे मंत्र है वो वेद में ऐसे मंत्र मयाते संतु जरदष्टया